उम्मत मुस्लिमा की बेटी और वो ऐसी बेटी की जिसका हाल सुनकर और इसके वाक़ात पढ़कर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं आफिया सिद्दीकी के हवाले से दो शेर आपकी खिदमत में पेश करूँगा अल्लाह ताला मुझे और आपको इस दीन के लिए वगैरत अदा फरमाए कि जो अपने मुसलमान कैदियों को छुड़ाने के अंदर मददगार साबित हो सके سن ذرا اے ابن قاسم بھیڑیوں کی قید میں سن ذرا اے ابن قاسم بھیڑیوں کی قید میں